उसका बस तो उन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क का इर्तिकाब करते हैं